और लोगों ने उसे छोड़कर ऐसे खुदा बना रखे हैं जो कुछ पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं और जिनका खुद अपने नुकसान या फायदे पर भी कोई बस नहीं चलता और न किसी का मरना या जीना उनके इख्तियार में है न किसी को दोबारा जिंदा करना